और अधिक तो इन दोनों से व्यावृत करना आत्मबोधन दोनों से व्यावृत होकर के आत्मदेव क्या आत्मस्थम अविक्रिय अमृतम अजरम अभयम अन्य अविषयम इतम अभिजानता ऐसा वो नहीं जानता है नहीं जानने वालों के अंदर ऐसा है क्योंकि जो है वो जो जानता है विदित व्यावर्तम आत्मभूतम जो विदित और अवित उन दोनों से भिन्न आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है वो आत्म स्वरूप ही है अविक्री है अमृत है अजर है अमर है अभय है अनन्य होने से आवश्यक अनन्य पर आवश्यक इतम ऐसा वो व्यक्ति मूल व्यक्ति नहीं जानता अभिजान न जानने वालों के अंदर इस प्रकार का ज्ञान नहीं है किंतु विषय रूप में उसको विद्या विषय आत्म तो यही वह नित्य विज्ञापन ब्रह्मा बुद्धियादि विषयात्मक बुद्धियादि वृत्ति का विषय रूप है ना रूप से ही उस नित्य विज्ञानात्मक ब्रह्म को जान सकते हैं तस्मात वेदाविन व्यक्त आदत्त धर्माध्यारोपेरा कारिका भाव निचर सविकल्पम अयात्मा क्योंकि जो बुद्धियादि विषय रूप आत्मा है वो परिचिन है बुद्धियादि का विषय रूपा जो आत्मा है मैं देवदत्त हूँ ये जाना क्या है ये बुद्धियान विषय आत्मा कल्याण है शारीर आत्मा है बुद्धियान तो विषय से गृहित आत्मविषय बुद्धियाली विषय है ना जो आत्मा ग्रहण हो रहा है वो आत्मा परिचिन्न आत्मा होता है उसको ही कोई नित्य विज्ञान है नित्य ब्रह्म है ऐसे ही जान रहा है मिथ्या ज्ञान ही नहीं निश्चय से मिथ्या ज्ञान है तो बड़े ज्ञान है तस्मात विविध और अविध से व्यक्त और अव्यक्त से धर्म अध्याय अध्यारोपेना कार्यक्रम भावेना वह वीर तो और व्यक्त और व्यक्त धर्मों का अध्यारोप के द्वारा कार्यकारण भाव से जो कोई भी उस ब्रह्म को ग्रहण कर रहा है वह सभी कल्प ज्ञान है उसका अयथार्थ विषय है वो निश्चित से अयथार्थ विषय है जैसे श्रुति का आयोग रजदारी अध्यारोपण ज्ञानवत विद्या ज्ञानम तेषाम क्योंकि जो है सुक्ति आदि में जैसे रजत आदि का ज्ञान पूर्वक जो रजत ज्ञान होता है वह रजत ज्ञान को जैसा मिथ्या ज्ञान मानते हैं उसी प्रकार जो शुद्ध ब्रह्म में आप जब गीत आदित रूपेण कार्यकारण भाव रूप से निर्तारत रूप से है ना बुद्धि का विषय होता परिचिन आत्मभाव से जो उस ब्रह्म ग्रहण करते हो निश्चित सब मिथ्या ज्ञान ही होगा यथा ज्ञान नहीं सूत्र आरंभ कर रहे हैं प्रतिबोधम मतम इस मंत्र के अर्थ को बता रहे ईर्षा प्रत्याणाम आत्मा आत्मा बोध द्वारा ईर्षा प्रत्याणाम आत्मबोध द्वार जितने भी प्रत्यय हैं तो बौद्ध प्रत्येक आत्मक चैतन्य प्रमाण के गृहित जितने भी ज्ञान है ब्रह्मा और चेतन के साथ ऐसी बुद्ध होकर के प्रत्येक जो ज्ञान है सारे के सारे ज्ञान आत्मा वो तद्वार है क्योंकि वह सब सब आत्मा से व्यापक आत्मा है और आत्मा से व्याप्य ये सकल प्रत्यय है कि व्याप्योक्ति के द्वारा जब व्याप्ति है वहां दीपसा तो हो गई प्रदुमह प्रद्रवनी आप कहते हैं जो एक जब व्याप्ति बन गया <clears throat> तो अपने आप दूसरा क्या हो जाएगा व्यापक प्रसिद्ध हो गया क्या कौन है व्याप्य इसलिए इच्छा प्रयोग करके बोधम बोधम प्रतीति प्रतिबोधम तो इसी को कहते विक्षा प्रत्याना बोधम प्रति बोधम प्रति इति सर्व प्रत्यय व्याप्त जितने भी वृत्ति संयोजन्य प्रत्यय है उन सकल वृत्तियों में व्याप्ति करने के लिए ऐसे कहा गया है बहुता ही सर्वे प्रत्यय तत्वत नित्य विद्या सर्वात तो इसलिए उसी व्याप्ति को उसी दीपसा को और स्पष्ट करते हैं बहुता ही सर्वे प्रत्यय जितने भी बुद्धि से जन्य प्रत्यय बुद्धि तो निश्चयात्मिक और वृत्ति विशेष है पर जन्म विप्रय भी जो प्रत्यय है उनको कहते हैं बहुत भाव प्रत्यय बहुत से बहुत भाषा नहीं समझना बुद्धि में होने वाले ज्ञान जितने प्रत्यय है वह तप्त लह के समान नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से व्याप्त है उसी व्याप्ति को व्यंजन करते हुए व्यक्त करता हुआ व्याप रूप की उपलब्धि का भी कथन करने के लिए बात कह दिया बहुत ही सर्व प्रत्यय है आत्मव्याप्त क्योंकि कैसा है आत्मा से व्याप्त और व्याप्ति यहाँ पर लेना ताजा व्याप्ति यहाँ वहां जो संयोग ये तरह अन्य तो ही वहां संयोग संबंध में आपको लेना पड़ता है संयोग संबंध है ना ये अधिकरण में जो में तद अधिकरण में संयोग संबंध है ना वन्य को स्वीकार कर रहे हैं आप ना ऐसा नहीं ना समय ये आधार आधे भाव जमीन है यहाँ से आजाद अध्यासिक ना आध्यासिक है ये शुद्ध चेतन में वृत्ति चेतन रूप में अध्यास है इसलिए विशेषांश विशेषांश एक है विशेषांश तो पहले वृत्ति तो चेतन बोल दिया जो है वहां ना इसलिए यहाँ दो तो ही तो आधार आधे भाव नहीं हो सकता इसलिए यहाँ जो व्याप्ति कहा जा रहा है वो ताजा तो व्याप्ति है ऐसे समझना चाहिए वृत्ति का चिंतन नहीं हो गया ये नाम चिन्ह चैतन्य करके एक विशिष्ट ज्ञान समझ लिए और एक है निवृत्ति आदि से वही चेतन विशुद्ध है औदित्य है विज्ञान स्वरूप है वो आत्मा है उससे व्याप्त इसलिए कह दिया गया सर्वे बोध को विज्ञान स्वरूप और भाषा क्योंकि वे क्या कर रहे हैं विज्ञान के स्वरूप को ही अभाषित करते हैं विशिष्ट रूप में अवभाषित करते हैं और अपनी बुद्धि की जो है कमी है विवेक की कमी है वैराग्य की कमी है आप विशेषण में टिक जाते हो विशेष को भूल जाते हो और विशेषण में टिक जाते हो दिन चेतन है आपका दिमाग विशेष होता चैतन्य में नहीं जाता तैन घट ये गड़बड़ी है अब ये गड़बड़ी जिस दिन दूर हो जाए मुक्ति हो गई सारी दुनिया खत्म इसलिए कहते हैं विज्ञान स्वरूप का अवभाषण कर ही रही है प्रत्येक ज्ञान जो है ना अपना विषय के साथ विज्ञान स्वरूप को भी भाषित कर देते हैं तब अन्य अवभाष आत्मा इसलिए कहते हैं तब अन्य अवभाष आत्मा जिसलिए ऐसा है इसलिए तब आत्म यशमात तान कौन अन्यान जड़ान उन अन्यों को अवभाषित कर रहे कौन बहुत अवकाश बुद्धि जो विज्ञान है वो तो क्या कर रहा है जड़ों को प्रकाशित करता है जड़ों के विषय बना लेता है बौद्धे सभी प्रत्यय अन्य अवभाष कर दिया वो तो कैसे हैं वो अन्य को अवभाषित करने वाले तद तो अन्य अवभाष हाँ, अन्य जड़ान अवभाष भाषित थी तो अन्य आवास कौन है वो अवभाष करने वाला आत्मा कहीं आत्मा के बिना वह बुद्धि भी जो है आत्मा से व्याप्त हुई जो बुद्धि है वो क्या कर रही है अन्य जड़ों को परिभाषित कराती है आत्मा को छोड़ करके केवल बुद्धि जो है जड़ों को उपासित करने में सक्षम नहीं हो सकती इसलिए अन्य अभाषण कौन हो गए वास्तव में आत्मा ही है तद्विलक्षण अग्निवध उपलब्ध थे उससे विलक्षण होकर के तद विलक्षण अग्निवध तद विलक्षण होने सर्वजड़ विलक्षण इसलिए वो आत्मा जो है जड़ से विलक्षण होकर के हमारे अनुभव का विषय होता है जैसे कि अग्निवध उपलब्ध नौ से अत्यंत विलक्षण अग्नि हमें अन्य तो उपलब्ध होते मिलता लोह दृष्टान दिया था है ना तप्त लोह उसी दृष्टांत को घटा रहे जैसे वहां लोहा से अत्यंत विलक्षण अग्नि उपलब्ध होता है उसी प्रकार से इन जड़ों से अत्यंत विलक्षण की आत्मा है दृष्टान से ये वन्य अग्नि से व्याप्ति वाला दुनिया लेना दृष्टान को जो कहा तप्त लोग के समान दृष्टान दिया था तत्व लोह के समान बुद्धि हैं उनमें जो लोहा है वो क्या है वो जड़ है उसको वासन करने वाले जो बुद्धि चैतन्य में जो चैतन्य है वह उस जड़ होता से विलक्षण वस्तु है तद विलक्षण हो अग्निवध उपलब्धि तेरह ते द्वारी भवन की आत्मा उपलब्ध हो इसीलिए से हम कह रहे हैं कि आत्मा की उपलब्धि में ये सारे बहुत सर्वे बहुत प्रत्याहा द्वारी भवंती ये मानक जैसे द्वार सागर बन जाते हैं इनको ठीक ठीक कर विवेचन करें और साक्ष्य भाव से प्रत्येक बौद्ध प्रत्येक हम ध्यान देने लग जाए तो निश्चित रूप से हमारे चेतन उस चेतन में उस अधिष्ठान चेतन में हमारी मृत्यु लेकिन साक्षियों से बैठ के चिदाकार धारणा का अभ्यास करना पड़ेगा ना धारणा के अभ्यास करना कैसे ये प्रत्याहार करना पड़ेगा तभी आप साक्षी भाव में जाकर धारणा कर सकेंगे और धारणा करोगे फिर जाकर ये जिस देश में आप स्थिर हुआ और भी देश में स्थिर होना है और घटपटादी में नहीं बुद्धि में नहीं मन बुद्धि अहंकार में ही किन्तु मन बुद्धि अहंकार के जो सविशेष वृत्ति है उस वृत्ति का उभाषक चैतन्य में जब चुकने लग जाए तब उसमें ध्यान पहले ध्यान कर लोगे गड़बड़ जाए कि ध्यान तो विषाणु वाले बनेंगे और विषय को भिन्न लगेगा कहने में ध्यान नहीं करना इसलिए आज से ही अनुभव करोगे ना अभी से ध्यान बैठ रहे हैं क्या ध्यान करोगे विषय को ध्यान करोगे और क्या करोगे क्योंकि को कौन चाहिए आपकी शक्ति जो है धारणा आदेश मंदिर चित्त से धारणा ये जो सूत्र है पतंजलि योग सूत्र ने कहा देश बंधन चित्त से धारणा चित्त को एक देश में बांधना अभी आपकी ये क्षमता आई नहीं है कि ये व चिन्ह चैतन्य का विशेष मुद्रा चैतन्य को ऊपर हमारे चित्त की वृत्तियों को स्थिर कर सके लेकिन वहां धारणा हुई नहीं ध्यान किसे कर रहे हो इसका मतलब अभी और धारणा कहाँ हो रही है और चैतन्य में तो हो नहीं रही है विशिष्ट में हो रहा है विशिष्ट में क्या है उसमें विशेषण में ज्यादा है विशेषण क्या है वो जड़ांग जड़ कहा नहीं उसे वचन जीतने क्योंकि तो आपकी धारणा जो है आपकी चित्त की वृत्तियां कौन सी देश बनी हुई है विशेषण देश बनी हुई है और विशेषण क्या है विषय है जड़ है अगर हम ध्यान नहीं करें धारणा के द्वारा यदि हम उसका ध्यान करते हैं तो हम ध्यान के विषाण पुंसक कोटि में चले ठीक है विवेक करके देखो इसलिए बोल रहे प्रतिबोधिता मतम पूरे उपनिषदों में समझिए कि सूत्र ग्रंथ है सूत्र पिता साधक के लिए हम क्या कर रहे हैं हमारे अंदर क्या हो रहा है अपने आप अनुभव करके देख मेरी कहा हो रही धारणा किस विषय में मेरी धारणा हो रही है और मैं उस धारणा के आधार पर अब उस आधार पर कौन से विषय का मैं ध्यान कर रहा हूं ये भी चीज समझ में आनी यदि हम विशेष यहां से बताए चैतन्य देश को चैतन्य विषय देश को हम वहां पर चित्त में धारण करने लग जाए वहां बांधने लग जाए फिर ध्यान करना चाहिए और उसके भी ध्यान हो गया तो समझ लो कह हो समाधि चक्र जभाव एक क्षण के लिए वहां ध्यान हो गया धारणा ध्यान समझते कुटी तो तत्र योग सुप्रकार ने कहा वहां एक क्षण लगता है बस वो धारणा नहीं होती प्रयास करना ध्यान के लिए प्रयोग करूँ तो कृत्य हमको ध्यान हो एक बार चित्त की वृत्तियां बन गई तो प्रत्येक एकता चलेगा शुरू में कठिनाई तो होगी लेकिन सक्र विभाग के आधार पर यदि एक क्षण के लिए भी आप जो कहता हो भाष हो गया चित्त की वृत्तियां उसको अकेले ग्रहण कर लिया समझ लो फिर कभी नहीं कल भागवत में और रसिक रस को छोड़ता एक बार रसास्वादन होने की देरी है एकदम मन की को हजारों लाखों वृत्तियां दिया जाए तो उस वृत्ति के तरफ उस विषय में तरफ और दोस्तों भी जाती हुई उसी में लगा ज्ञान अपने आप हो गया ज्ञान अगर तो समाज अपने आप हो गया इसलिए करते ऐसी स्थिति में तीनों एक साथ हो जाते हैं धारणा ध्यान इसे तत्व ऐसी एक सूत्र करता अभी आधार बनाकर भी कह रहे हैं इसलिए जो ये श्रुतियों के आधार पर ही सूत्र बना है वृषभम का ही अनुभव करने के लिए साधन बताना ना लक्ष्य नहीं है सदा दृष्ट स्वरूप लक्ष्य क्या है उस समाधि काल में हमें क्या करना है अपने दृष्टा का अपना जो निज स्वरूप है उसमें अवस्थिति होना ही योग का लक्ष्य कोई और लक्ष्य क्या है वेदांत बिंदु तो ही नहीं दृष्टा का स्वरूप क्या है सचिदानंद ब्रह्म है इसमें अवस्थिति पाना ही प्रणाली का लक्ष्य अति इस लक्ष्य को पाने के लिए साधन बता रहे हैं तो साधन यहाँ कहीं नीचे यहाँ बताया साधन को ही वो थोड़ा विस्तार कर देते हैं प्रतिबोध नीताम कह दिया इन्होंने लेकिन तो अब उस एक शब्द में तीन सूत्रों में बात धारणा ध्यान और तीनों को मिलाकर के अंत में कर दिया जब प्रतिबोध नीतम तुम सफल हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में तुम क्या हो जाओगे संयम तो चार सूत्रों से एक मंत्र की प्रतिबोधन इसी भाषिका ने समझा इसलिए कहते ते द्वारी भवंती आत्मोपलब्ध आत्मोपलब्धि में अब यही जो वृत्तियां थे जो विशिष्ट वृत्तियां बने थे बहुत सर्व वृत्ति थे यही क्या होते हैं द्वार बन जाते हैं तस्मात प्रतिबोध अभाष प्रत्येगात्मतया यदि तदेव मतम ज्ञातम भवती तब इसलिए प्रतिबोध अवभाष प्रतिबोध अवभाष मैंने प्रतिबोधा प्रतिबिंबा प्रतिबोध क्या है प्रतिबिंबात्मक तेषाम यद प्रत्ययात्मक अवभाष वो जो प्रतिबिंब का भी जो प्रत्यगात्म रूपेण बिंदु रूपेण जब आप जान लोगे जो यद निगम भवती तद ब्रह्म मतम ऐसे जानना ही वाक्य में जानना हुआ मैं तो जाना ही नहीं वो तो इष्ट को पकड़ रखा है जाना जाना भी उस आत्मा नहीं जाना ऐसा नहीं जानेगा प्रत्येक प्रतिबिंब मात्र प्रत्यवच्छिन्न चैतन्यों में जो विशेषांश होता है चैतन्य मात्र को जब वो ग्रहण कर लेता है तो वही उस ग्रहण को ग्रहण कर रहा है करे सम्यक ज्ञानम बस इसी का रोजाना ज्ञान है प्रत्येगात्म विज्ञान जो प्रत्यवाद विज्ञान है तदेव समय ज्ञान नाम विषय विज्ञान वो जो सर्व प्रत्येक है बहुत सर्व प्रत्यय तो विषय विज्ञान समय विज्ञान नहीं है किंतु ये जो प्रत्यगात्म विज्ञान था यही समय विज्ञान है प्रत्यगात्म न भ्रमण विज्ञान करता प्रत्यगात्म विज्ञान क्या मैं अलग को परीक्षण ये नहीं ये प्रत्यगात्म ज्ञान आपको हो रहा है लेकिन इस प्रत्येगात्मा को ब्रह्म रूप में जाना विशिष्ट रूप में नहीं विशेष निर्विशेष रूप से जान इस प्रत्येगात्मा को ब्रह्म रूप से जानने का नाम प्रत्येगात्म विज्ञान न विषय विज्ञान में विषत्व ब्रह्म को जानना ब्रह्म ज्ञान नहीं है उस ब्रह्म को यदि आप मेरा वृत्ति का विषय है ऐसे समझ रहे हो और इस तरह विषत्व ब्रह्म का ज्ञान होना असम ज्ञान है और प्रतिगात्मक ब्रह्म का ज्ञान होना अपने से लेंगे ये यहाँ समझ आत्मत्व इसको और स्पष्ट करते तो राशिकार ने विशेष प्रयोग कर दिया आत्मत्व कहने का मतलब आत्मत्व ब्रह्म का अनुभव करना में ब्रह्म का अनुभव नहीं करना प्रत्येगात्मान इच्छित काट दी क्योंकि कठोर प्रश्न स्पष्टी कहा उसने क्या देखा प्रत्येगात्मान आवृत धीरा कश्चित धीरा आवृत चक्षु कश्चित धीरा प्रतिभावान चाहिए अमृत में जाती थी हित वचन इसमें क्या प्रमाण है कहते हैं कि पहले बोल चुके हैं अमृतत्व में ही ये हित वचन है क्यों विपर्य प्राप्त है से भी प्राप्त है व्याख्या करेंगे मैंने विषयात्म विज्ञान ही विपर्य का कर्तव्य मतलब विपर्य का मतलब क्या विषयात्म विज्ञान विषय को आत्मत्व ज्ञान कर लेना तो विषय ना आत्मा का ज्ञान कर लेना विषयों को आत्मरूप ज्ञान कर लेना अतः विषय आत्मा का ज्ञान कर लेना दोनों ही गलत यानी आत्मा कभी विषय हो नहीं सकता यदि विषय के ना आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं वो भी विपरीत है और विषय को भी आत्मा मान लिया तो, तो और भी चलता है विषय को ही आत्मा मान विषय में आत्मा यदि विषय ज्ञान एक पक्ष अतः विषय तुम्हें आत्मज्ञान में थी विषय दोनों ही जो है विपरीत ज्ञान का इससे क्या होगा क्योंकि ऐसा ही ज्ञान कर लोगे तो मृत्यु प्रारंभ है इति आत्मविज्ञानम अमृतत्वम युक्तम हेतुवचन अमृतत्व इसलिए जो है आत्मविज्ञान ही अमृतत्व का निमित्त है अतएव मंत्र में ठीक कारण रूप कर उपस्थित कर दिया पूर्णांकपण कथन कर दिया भाई हेतु वचन इसमें नहीं बनता है अमृतत्व ही प्रतिबोधनी सम्मतम अमृत आत्मज्ञाना किम अमृत तुम उत्पाद देते पूछते हैं का मतलब क्या उत्पन्न कर लेता है क्या अमृत को अमृत में उत्पन्न कर लेता है ज्ञात आत्मज्ञान के द्वारा क्या अमृतत्व को आप उत्पन्न कर लेते हैं यह अमृतत्व भी कोई विकार आपके अंदर हो जाता है जैसे दूध दही बन गया आप पहले मृतत्व में थे अब अमृतत्व पे विकार हो गए ऐसे मानोगे या आज इस आत्मा ने मृतत्व नाम का एक गंजी थी मैं था तो उसको धो करके उस अमृतत्व की जो टेंशन है संस्कार कर उसका आधान कर संस्कार आधान संस्कार मानो या कहीं चले जाओ यहाँ से आत्मा कहीं चला जाएगा और जा करके वहाँ अमृतत्व को पाएगा यहाँ तो मिलेगा नहीं इसको कहीं जाएगा जाकर के माफ क्या तो इसको ऐसे चारों का कथन है उत्पत्ति से उत्पाद्यते व संस्क्रियते वा और प्राप्त वा और विक्रिय वा चिन्ह ये चारों में से कोई नहीं हो सकता खत्म करी फिर कैसे हो जाता है आपके ज्ञान देवरा अमृत आत्मराविंदते मैंने स्वीव आत्मराजते वीरियम विद्याजते इसलिए स्पर्धक आत्मनाविंदते सूर्य नित्यात स्वभाव अमृतत्व न आलम्बन पूर्वक आत्मा से प्राप्त कर लिया मैंने अपने ही तो स्वभाव से ही वह अमृतत्व को प्राप्त करता है स्वार्थ स्वरूप अमृतत्व मिलते क्योंकि वो स्वाभाविक उसका अपना स्वरूप है इसलिए उसको कहीं से लाने की या कुछ करने की जरूरत नहीं न आलम्बन पूर्वक हम स्पष्ट करते हैं कोई उपास्यम भी उपास्य आलम्बन ही उपास्य तो कोई उपासना को आलम्बन करके आश्रित करके उस उपासना का साधी रूपे न इसको प्राप्त नहीं करता इंद्र अपेक्षा फिर तो एक होगा विंदते प्राप्त उसी भी बोल प्राप्त कर लेगा मैंने अप्राप्त का प्राप्ति जैसा आपने शब्द प्रयोग कर दिया फिर कहा रहे हो हाँ, कि वह स्वरूप ही हो ये कैसा हो सकता है तब करके विंदती आत्मविज्ञान अपेक्षा आत्मविज्ञान की अपेक्षा से कह दिया जा रहा है ये जो प्रयोग विंदते शब्द प्रयोग आत्मविज्ञान मर्त ब्रह्म निवृत्ति में अपेक्षित है आत्मज्ञान अपेक्षा मतलब गया मर्तत्व का निवृत्ति की अपेक्षा जो मर्तत्व आरोपित था आरोपित मर्तत्व रूपी धर्म का जो है निवारण करना ही अमृत का कुछ तो प्राप्ति नहीं यहाँ आरोपित को निवारण करने के सिवाय प्राप्ति नाम से कुछ भी नहीं है इसलिए अमृतत्व बिंदत से ये शब्द प्रयोग किया तो औपचारिक मंत्र का प्राप्ति के समान अप्राप्त का प्राप्ति नहीं है विस्मृत के प्राप्ति के समान है तो यदि विद्योत्पाद्यम अमृतत्व सात अनित्यम हो कर्म कार्य समस्या ये होगा यदि विद्या के उत्पाद्य मान लो इस अमृतत्व को या प्रिय मान लो या संस्क्रिय मान लो या प्राप्य मान लो ना तो समस्या क्या होगा फिर यह अमृतत्व अनित्य हो जाएगा कर्म कार्यवत क्रियाजन्य कार्य के समान या कर्म से क्रियाजन्य क्रियाजन्य कार्यो के समान क्रियाजन्य चार प्रकार का कार्य क्रिया के द्वारा उत्पाद्य होता है घटारी उत्पाद्य हो गए दही आदि क्रिया के द्वारा इंकारी हो गया है नहीं और क्रिया जो संस्कार भी आप करोगे जो उसे आगम करेंगे बिना क्रिया का तो संस्कार आगम नहीं हो सकता प्रोक्षण गया है संस्कार आगाम है जो तो करोगे ना नहीं छिड़कोगे मंत्र बोलोगे तब जाके शुद्ध माना जाता संस्कार हुआ प्राप्ति है थी बिना चले फिरे थे यहाँ बैठे बैठे पहुंच जाओ अपने आश्रम कैसे हो तो चलना पड़ेगा ना अगर चलेगा क्रिया होगी करना पूरा क्रिया तब जाकर के अन्य स्तर को प्राप्त करोगे देश देशांतर की प्राप्ति होती है लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो में कार्यों के समान यह मृतक को भी अनित्य हो जाएगा यदि नित्यावर उत्पाद संस्कार कार्य प्राप्ति मान लेते हैं तो अतः न विद्या इसलिए विद्या उत्पाद नहीं है यदि क्या आत्मा ही अमृतत्व दे कि पुनर्विद्या तो समस्या ये होगी यदि स्वरूप से ही वह अमृत मृतत्व को जो आरोपित मृतत्व को निवारण करके मृतत्व को वह सर्वस्थिति ही प्राप्ति करते हो तो विद्या ने क्या काम किया तो विद्या का क्या प्रयोग होगा विद्या तब कहेगा छते को जवाब दिया अनाथ विज्ञान के साथ जो अनाथ विज्ञान था उसको निवृत्त करती दिया विद्या निवृत्तिया स्वाभाविक समृत सुनिमित्तम करते इसलिए निवृत्ति रूपी कार्य के प्रति स्वाभाविक अमृत का प्राप्ति के प्रति निमित्त रूप कर रही वास्तविक निमित्त कारण नहीं है ऐसे व्यवहार कर दिया जाता है कवित्व यथा विद्या ज्ञान प्रतिद्वंदी वीर्यमादि श्रुतिराहा इनकी जो प्राण गिरा विद्युत विरम क्या है एक बार मान लो विज्ञानी अयोध्या को विरोध कर दिया उसका गबर अयोध्या होगी गबरे ही अज्ञान आ जाए फिर मंडल में गई क्या फायदा है बार बार अविद्या को लाओ फिर अविद्या छिड़ी जाएगी जहाँ अविद्या थोड़ी बंद पड़ी या विद्या सो गई उनको तो फिर आ जाएगी ऐसी विद्या को क्या लाए तब गई से विद्या केवल अविद्या को निवृत्ति नहीं करती बल्कि आपके अंदर वो सामर्थ्य बुद्धि में डाल जाती है जिसे दोबारा वहां अभिवेक नाम का जो नहीं होगा व्यवहाराचार तो अध्यास नहीं होगा किसी को वीरियम कर सकता ऐसा प्रतिद्वंदी वीर को पैदा कर अविद्या का पुनरुत्पत्ति का प्रतिद्वंदी जो वीर सामर्थ्य है वो प्राप्त यथा वीरियम विद्या मिलते इसलिए स्पष्ट कहा यह है कि विद्यार्थी द्वारा गिरी को प्राप्त करता है वीर मैंने सामर्थ्यम गिरी का मतलब क्या सामर्थ्य क्या सामर्थ्य अनाथ प्रत्यारोप माया स्वांत ध्वांत अनभिभाव्य रक्षण बलम ऐसा बल है ये कदे जो अनात्मा का जो अध्यारोप हुआ है जो अनात्म अध्यारोप है वो कहा हुआ स्वामी का यदि स्वामी स्व का अंत हो गया मैंने स्व के स्वरूप को उच्छेद हो गया जैसे हो गया जैसे अज्ञान आ जाता है तो क्या होता है अपने स्वरूप का उच्छेद हो गया भूलिए स्व का अंत क्या है अंत में नाश मर गया ऐसा नहीं यहाँ तो विस्मृति ही है स्मृति और कुछ नहीं स्व के अंत होना उन्हें स्व का विस्मृति हो जाए इसलिए तू ही कौन है स्वांत योद्धांत भी स्वांत भान मन अंधकार अज्ञान स्वांत भान क्या के लिए अज्ञान स्व के विस्मृति का कारणीभूत अज्ञान को कार्य स्वांत तो अनात्मारोप माया अनात्म अध्यारोप कारणीभूत तो माया ही स्वांत विध्वांत होकर के जो अज्ञान रूप से अनविभाग उसके द्वारा अनभिभावी बलम उसके द्वारा अभिभावी बल नहीं विद्या के द्वारा जो प्राप्ति बल है वो उस अज्ञान के द्वारा अभिभावी नहीं है उसके अभिभूत नहीं किया जाता सकता वह अज्ञान दोबारा उस विद्या से प्राप्त बल को पछाड़ नहीं सकता ये सब हो जाएगा ना तो समय के लिए कोई आदमी विश्व स्तर का बहुत बड़ा बॉक्सिंग का जो हीरो बन गया विश्व स्तर का चैंपियन हो गया लेकिन क्या हो गया विश्व चैंपियन कब तो रहेगा दो चार साल मान लो कि चल जाती है उसके बाद उसका ऐसे अंदर अहंकार हो जाता है अरे मेरे बराबर कोई तो वही खत्म मैं चले जाता है वो तो खत्म उसका बल क्या हुआ तीन चार साल बाद दूसरे के द्वारा भाव विवाह भी नहीं हुआ दूसरे ने उनके बुद्धि का सामर्थ्य बुद्धि का बल शरीर का बल आदि को दबोच तो अभिभावी बल है वो वह बल क्या है अभिभावी बल है ऐसा बन से प्राप्त नहीं होता अज्ञान के द्वारा अनभिभावी परिवर्तन होता ही जाता इसलिए कहते हैं अनात्म अध्यारोप तो माया का ही कार्यात्मक स्वयं सिद्धांत अज्ञान के द्वारा अनभिभाव्य लक्षण मदन विद्या विशिष्ट अमृतम अविनाशी जब कैसे विशिष्ट है किस प्रकार से है वो क्या ऐसा विलक्षण बल कैसा हो गया क्योंकि जो है अमृतम अविनाशी बल है प्राप्त होता है बल भी अविनाशी बल एक बार जब प्राप्त हो जाए तो कभी नष्ट होने वाला बल नहीं है अविद्याजम ही वीर विनाशी क्योंकि अविद्याजन्य जो बल होता है वो विनाशी होता है अविद्याजन्य बल अविनाशी इसलिए विद्वान लाभ करते विद्या अविद्या बाध्य क्योंकि विद्या के द्वारा अविद्या बाध्य हुआ करती है और अविद्या जन्य बल क्या किसी को बांधने की समर्थी सामर्थ्य सारे लोग को बाध डालेंगे लेकिन वह किसी को बांध नहीं कर अविद्या के दुर्दशा है लेकिन विद्या सबको बांध देता है लेकिन उसे कोई बांध नहीं ठीक नहीं इसलिए अविद्या से प्राप्त जो बल है वो अविनाशी बल है और अविद्या से प्राप्त होने वाला बल विनाशी है मृत्यु विद्या बालकोस्ती यदि विद्याजम अमृतम विद्या विद्या उत्पन्नम अमृतम इसलिए विद्या से उत्पन्न होने वाला जो वीर है वो परमात्मा में अमृत में है बाद का बाद विवाद मिथ्या तो होगा नष्ट हो जाना और क्या नहीं वो नष्ट हो गया अज्ञान रहेगा ही नहीं प्रकाश ने अंधकार को बाध दिया क्या करूंगा अंधकार को बाध दिया क्या मतलब अंधकार को नष्ट अतो विद्या अमृत निमित्त हित मात्र होती इसलिए विद्या जो है अमृत क्या है निमित्त मात्र ही है क्योंकि वो अंदर गतिविधि आज है अजन्म है उसको कोई नहीं कर सकते आप इसलिए उस अमृतत्व के प्रति विद्या के निमित्त मानते कोई न कुछ समय के लिए बादल सा था उसको दूर कर दिया मल था दर्पण पे उसको दूर कर दिया दूर करने का वो साधन है અમૃત તુલાને કા સાવની એચન કરને કે વિદ્યા કે દ્વારા ભી સુખ અમૃત ભાવી રહેગો ઉત્તમ નહીં થાય અમૃતો વિદ્યા અમૃત તુ ઉત્તમ આદિ ઈવ કાલી નાયમ આતા બલ કેરેન નહી આ પીપીચ આતર નહી અંત્ય હો જા લોગી વિદ્યા દે મેરો બડમ અભિભવતિ ના શરીરા ન સાવત્ય એ રસ્તો હે लोगों में भी देखने मिलता है जो विद्याजन्य जो बल है ना वो सबको दौड़ा देता जैसे कि देखो हाथी कितने लंबा चौड़ा है, कितना ताकत है उसके अंदर बड़ा बड़ा पेड़ को उखाड़ के है लेकिन आपकी बुद्धि कुशलता की बात है आप किसी तरह उसके ऊपर चढ़ जाते हैं हम कुछ लगे उसको मारते हैं इतना बढ़वाएंगे आपके इसी आप जैसे चाहो उसे दौड़ाओ तो क्या है आपका बल है क्या आपके शरीर का बल उस हाथी के शरीर का बल से ज्यादा है नहीं है लेकिन आप में जो विद्या देने वाले आपको कला मालूम है इसको कैसा प्रवेश करना है तो विद्या ही तो है ज्ञान तो है आपके पास वह तो ज्ञान के आधार पर आप उसको वश में कर जब सर्कस वगैरह में व्यक्ति कैसे कैसे पशु उसके साथ अंदर वो जाली के अंदर खड़े होकर के वो औरत है या आदमी है क्या कराहत करते हैं उसके साथ इतना कंट्रोल है उसके ऊपर वो सिंह है मुंह खोला हुआ है उसके अंदर वो बालक घुसा दिया और वो काटता भी कहा गया हो तो क्रोध बुद्धि काटने की खाने की खून पीने की केवल आप अपने बुद्धि बल से जो है उसको नियंत्रण वो दान लगानी हिम्मत नहीं होगी उसको दान लगाने भले का शरीर में भयंकर सामर्थ्य है इसलिए तो डर भी लगता है आप रहकर्वान नहीं है फिर जो लोहे चल क्यों लगा रहे हैं उनको डरे है कि उतरने तो है फिर भी कहीं गड़बड़ा जाए तो उछल जाए चिंता के ऊपर तो थोड़ी है उसका तो आप लेकिन अपने बुद्धि बल के आधार पर उसको कंट्रोल रखे हुए हैं फिर आपका उस नियंत्रण स्वयं को आपको विश्वास नहीं स्वयं विश्वास है तभी जाने बिछाना पड़ता है लगाना पड़ता है कहीं हमारे नियंत्रण से बाहर गया तो क्या होगा अपने जान खतरे वाला खेल दिखाते थे दूसरे के जान खतरे में न डाले अपने जो नियंत्रण पर विद्यमान अविश्वास को देख करके उसका व्यवस्था करें बुद्धि पल पर गए आधार पर सारा नियंत्रण हो रहा है वहां शारीरिक बल इसे शारीरिक बल की अपेक्षा से बुद्धि बल ज्यादा बलवान है और बौद्धिक बल के द्वारा शारीरिक बल प्राप्त किया जाता किया इसमें स्पष्ट प्रमाण है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी विद्याजन्य बल और अविद्याजन्य बल परस्पर एक दूसरे को विरोध करने समर्थ होते हैं ऐसे नहीं समझ सकते कि विद्या का बल ही अविद्या के बल को परास्त हाँ, जैसे कि हाथी आदि आप देखते हो तो एक अर्थ हो गया इस मंत्र का प्रतिबोध गीतम का एक अर्थ मुख्य अर्थ व्याख्या आप गौन कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं गौन अथवा प्रतिबोधवीतमी सदेव अशेष विपरीत विरस्त संस्कार स्वप्र प्रतिबोध ये रीतम तदेव मतम ज्ञात होती प्रतिबोध रीतम मतम का कैसे कर लेना जैसे आप स्वयं में स्वप्न में लिख रहे हैं घर से आपको बता दिए हर पाप उठ गए उठ गए तो क्या होगा कहा जाएगा जो स्वप्न जगह समय थे जिन वस्तुओं के बीच को आप बैठे हुए थे अनुभव कर रहे थे नारद क्षण धर्मी प्रतिबोधनी बोधान प्रति भी प्रतिबोध ऐसे मैंने बोधों का विरोधी है जितने भी बोध थे इस स्वप्न में जितना भी बोध हो रहा था आपको उन सारे बोधों का विरोधी जग जगदी वसात स्वभाव इतर से ब्रह्म बोध एक ऐसा बोध है ब्रह्म ज्ञान जो सकल जो विशिष्ट ज्ञान होते रहे जीव का तो सब एक क्षण में बैठा क्षण भाव की बात दूरी भी नहीं लगती वही कहते हैं सगुरदेव अशेष विपरीत निरस्त संस्कार अशेष न पूर्णतया विपरीत जितना भी था उन सार विपरीत के संस्कारों का निरस्त संस्कार है ना घटना क्या है स्वप्न बोध स्वप्न बोध के समान है स्वप्न प्रतिबोध स्वप्न प्रतिबोध यदम सकृदेव यदम तदेव मतम ज्ञातम हो तो जैसा निद्रा सहित वो स्वप्न नष्ट हो जाती है निद्रा जग गया जगा दिया गया तो निद्रा भी तो गई सकारण संपूर्ण कार्य निद्रा रूपी दोष के कारण से स्वप्न में अभ्यस किए यहाँ पर अज्ञान रूपी दोष के कारण से जगत में जीव भाव में देना समस्त स्वप्न निद्रा विदोष सहित जगत ही बराबर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार से अज्ञान सहित समस्त जो है जीव भाव और विश्व की कार्य जगदानुभूति हो रहा है सब तो क्षण ये प्रतिबोध दूसरा अथवा तीसरा प्रतिबोध हमने गुरु उपदेश प्रतिबोध गुरु उपदेश को प्रतिबोध कहते हैं गुरु उपदेश प्रतिबोध मुक्ति विलंब है पुरस्मा विशेष इतना ही फर्क है यहाँ पर मुक्ति में विलंब है पहले क्या हुआ शत्रु हटी हो गया अरे वगैरह आप जगा दे गए झट से आप जग गए तो तुम नष्ट हो गए पर स्वयं अब जब रहे धीरे धीरे धीरे सपना अपने आप खत्म होता है और अपने आप आलस आता है तो अपने आप धीरे धीरे आप जगते हैं जगते कभी है जगते आप भी दोनों में जग रहे हैं इन दोनों जगनी है एक में तत्काल आपको जगाया गया जगाते उसी क्षण में सब कुछ सब कुछ मिट गया दूसरा स्वाभाविक रूप से आप जो है जगन प्रतिबोध जगड़े रहे उद्बोधन हो तो समझ लगता इसी तरह गुरु ने उपदेश दिया यहाँ श्रवण हुई है तो मनन करना है निध्यासन होना है समझ लगता है यह श्रवण निधि मनन निध्यासन आदि के द्वारा विलंब से प्राप्त होने का तरीका है अभी तम मदन की उभयत्र प्रतिबल शब्द प्रयोग अस्थित इन दोनों अर्थों में भी वास्तव में जो है प्रतिबल शब्द का प्रयोग लोक में देखने मिलता है इसी इन दोनों अर्थों को भी हमने दर्शा दिया सुप्रसिद्ध सुप्त प्रतिबुद्ध गुणा प्रतिबोधित कहा प्रसिद्ध है और दिखा दिया तो जैसे कहा जाता है सुप्त प्रतिबुद्ध हम गुणा प्रतिबोधित हम ऐसे दो व्यवहार करते हैं इसलिए प्रतिबुद्ध शब्द प्रतिबोध शब्द जो है इन दोनों सभा में प्रयोग होता है अच्छा हमने प्रयोग किया जो पहला वाला था अब जो बताया गया व्याप्ति वही मुख्य है वही यथार्थ ये सब लोग क्या लगा हमने इनको भी घटा के बिठा लिया इन अर्थों को भी मैंने गौण है मुख्य यथार्थ तो सबसे पहला वाला ही है अगला मंत्र आता है यह छेद वेदी दिव्या भी यह छेद वेदी खुद सत्यमस्ती यह छेद जा रहे हैं पांचांग ये चीज मेरी भी अवश्य कर्तृता उत्तीर्ण परे विनाशिष्ट उदय है आत्म की अवश्य कर्तव्यता पर बल दे रही है और इनके होने पर नाश को खत्म कर दे विनाश होते है ये वाक्य है सूत्र वाक्य अवश्य कर्तव्य तो फिर विपरीय विनाश शुद्धि है इस सूत्र की व्याख्या यह मनुष्य जन्मनी सती अवश्य में आत्मा वेदितव्य इस मनुष्य जन्म का प्राप्त होने के बाद अवश्य ही आपको आत्मा को जाननी चाहिए और अन्य चीजों को जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कथन नहीं है कथन कैसे ये अर्थ निकाल दिया आपने कल यह चेद यह तो मनास्मी मनुष्य जन्म नहीं विहितवान यह स अग सत्यम परमार्थम अस्ति अवाक्य परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया तस्य जन्म सफल उसका जन्म ही केवल है चित्त निस्सारण यह जन्म उसने नहीं जाना फिर तो उसका जन्म समझो अब और कुछ महादीव नष्टि धन्य व्यर्थ ही गए अविनाश को प्राप्त हो गया क्या अविनाश प्राप्त हुआ कहते हैं महान विनाश जन्म मरण प्रबंध अविच्छेद प्राप्त लक्षण महान विनाश ही है ये जन्म मरण के जो चक्कर है इसके अवच्छेद चक्कर की प्राप्ति हो जाएगी ये तो है जिसलिए ऐसा है तस्मान अवश्य विच्छेद आत्मा इसलिए एक संसार रूपी जो जन्म मरण चक्कर पर संसार से का विच्छेद करने के लिए अवश्य आत्मा जानना चाहिए ज्ञानी तो किम से अरे ज्ञान से ज्ञान लाभ हो ठीक है परमात्म चलो ज्ञान हो गया ज्ञान से क्या लाभ अरे बाद में लाभ पूछना क्या लाभ हो क्या बताओ फायदा क्या हुआ ज्ञान से उच्चते भूतेश भूतेश चला करे सर्वेश विचित्य मृदन आत्म उस आदि तत्व को प्रत्येक भूत में अलग अलग समझ लेगा अरे ये चित्र है ये मेरा कपोल कल्पित है ये देखो जोड़ है ये देखो हम बस ये ब्रह्मचारी ये सन्यासी ये हम थे भूत है ये जो मेरी कल्पना का चित्र असलियत में ये सारी कल्पना का अधिष्ठान इन सबसे अलग आत्मा है उसकी दृष्टि आत्मा में रहेगी और चित्र में सकती इसलिए नहीं हो सकती ये विशेष विद्या करते विचित्र होना प्रथम निष्कर्ष एकम आत्मतत्व जो एक आत्मतत्व है संसार धर्म अस्पृष्टम तो संसार धर्मों से असंबद्ध हो ऐसे को में उपलब्ध करता उसको स्व अभिन्न स्वस्वरूप अभिन्न रूप उपलब्ध करके अनेका दत्ता दादराम विचित्र को उपलब्ध जरूर कर दिया कहते अनेकार धातु नाम धातु कार्य अनेक यहाँ वही अर्थ लेना उचित होता है न पुनश्चित ये नहीं कि चुनेगा अलग अलग जैसे फूल को चुन दिया पेड़ों से इकट्ठा कर लिया पैसे फूल को तो आत्मा को निकाल इकट्ठा कर लेगा झोले में नहीं ऐसा अर्थ नहीं लेने का है वो घटी नहीं गिरता है तो आत्मा चीज है नहीं एक चुनिए में डालो तीसरे कहते हैं अनेक कहता है कि न पुनश्चित तो संभव संभव ही नहीं है विरोधा ये वस्तु को चयन करके ये रखा जा सकता है किसी टोकरी में झोले में जेब में ऐसा है ही नहीं अपरिचिन वस्तु होने के नाते